कहा हंसली जी गरुड़ को समझाते हैं पुरुष प्रयोगी त्रिपुरकारी मोह विपिन नहीं सके उपकारी क्या उपाय पुरुष प्रयोगी तिल उर्गारी हे उर्गारी हे गरुड़ वो पुरुष प्रयोगी है कोई योग मैंने योग कोई किया ही न निष्काम पर योग किया न ज्ञान योग किया न भक्ति योग किया कोई योग साधना नहीं की तो उपयोगी ऐसा व्यक्ति जब हो मोह विटे मोह बिटक नहीं सके उखाड़े ये लोग मोह रूपी वृक्ष को उखाड़ नहीं सकते मोह बना आप जाने की ताकत लगा कि मोह के वृक्ष को उखाड़ लें घर घर के कुछ काटे रहो आप देखोगे दिमाग हृदय नहीं मिलता विजय तो किस बात में है जब मोर उनके वृक्ष को उठा कर फेंक दो तो तो समझ में आवे जीत गए नहीं तो क्या उसको वृक्ष को हिला करके खड़े हो गए पराजित खड़े इस जीवन में वो व्यक्ति तब तक पराजित है जब तक मोर उनके वृक्ष को उठा कर फेंक नहीं देता इसीलिए गीता के पंद्रह अध्याय हम लोग का प्रोत क्यों करते हैं खाने के लिए हम्म? उसमें भी यही आता पहले ही से जिस वृक्ष का वर्णन है गुरु मूल अगर शाखा ये मोह का वृक्ष उसी में भगवान आगे कहते हैं वो असंग शक्ति है दृढ़ छिपा उसको अनाशक्ति बने वैराग्य भाव के अब ये मोह का वृक्ष कब कटे जब वैराग जड़ो हो वैराग्य तुम्हारी मजबूत हो तो उसे काटो छाटो खाओ नहीं तो नहीं कूदो तो तब उसके मैंने गीता में वही बात रामचंद्र मानस में वही बात उपनिषदों में भी वही बात सब जगह बात वही जीवन का नतीजे तभी है जब मोह का प्रक्षोभ और मोह बना हुआ है उसको अपराध आप चाहे इसलिए आप अपनी महिमा बात करो मैंने ये क्या मैंने वो क्या अरे क्या क्या कुछ नहीं किया जब जीवन में मोह की बच्चे नहीं खा गया तो दुनिया में आपने क्या किया इसलिए कहते यही सुखते सतकोट गुण तो पाओ ही पांच तो आनंद ये सब माता जो है इनसे भी ज्यादा आनंद में मग्न है और आए में करे दिया घर आए रघुकुल चंद सब जो चारों भाइयों के करे उनको विवाह करके रघुकुल चंद्र रघुवंश के चंद्रमा के समान भगवान श्री राम जी और अपने भाई वो सबको सब विवाह करके चारों घर आ गए इसके कारण से बड़े प्रसन्न लोक रीत जननी करनी गर्भ दुल्हन सब चाहे माताएं जो है लोक रीत करती लौकिक रीतियाँ और गर्भ लहन सब चाहे अभी क्या लौकिक रीतियाँ हुई है यहाँ विस्तार नहीं करते लगभग उसी प्रकार की कुछ कुछ होती हैं जिस प्रकार की जनकपुर में जब कोहबर हुआ एक शब्द था कोहबर कोहबर के मैंने फिर वो अपने घर के भीतर कोठरी में ले गई सुनैना इत्यादि भगवान राम को और पुत्र बच्चों को उनको उनको सबको अपनी पुत्रियों को तो वहाँ जा करके फिर उनकी जो देवताओं की स्थापना वहाँ की गई तो उनकी सबकी पूजा वगैरह वहाँ कराई गई और फिर वहाँ पर और भी जैसे एक ने दूसरे के मुख में खिलाया दूसरे ने दूसरे के मुख में खिलाया इस प्रकार की सब बातें वहाँ हुई इसी प्रकार की कुछ रीतियाँ जो है वो जब विवाह होकर के घर में आया तो उनके घर बधु को दोनों के घर लेकर जहाँ देवताओं की पूजा होती है तो बधु के द्वारा भी उनकी पूजा कराई जाती है घर के द्वारा भी उनकी पूजा कराई जाती है पूजा भी कराते हैं और उसके बाद में फिर कुछ और भी इस प्रकार की स्त्रियाँ जो है मनोरंजक कार्य कुछ उसमें होते हैं कई कई प्रथा इस प्रकार की है कि वहाँ कुछ जुआ खेलने जैसा भी कार्य होता है है कहीं पानी है उसमें डाला कहीं अंगूठी डाली कहीं कुछ डाली कहीं दूध डाला कहीं उसमें घोड़ा आया कहीं कुछ किया इस प्रकार के कार्य तो ये सब चारों भाई चारों बदले सब यहाँ पर उनके द्वारा ये सब सोबर में सब हो रहा है ये सब लोक रीतियाँ हैं ये लोक रीतियाँ पिछले सब हो रही तो उसमें कहते हैं कि जी की लोक रीत जननी करेंगे माताओं को तो लोक रीत करानी थी तो कराएंगे रहे थे लेकिन बड़े दुल्हन खर्चा लेकिन बड़े दुल्हन को संतोष लगता है वहाँ संतोष लगता है वहाँ तो बात दूसरी थी जन्म में वहाँ की स्त्रियाँ और वहाँ के तो वो सब लोग करें ससुराल की बात दूसरी है अब घर में आकर के उस प्रकार का ये सब माताएं करा रही हैं तो उनको सबको पुत्र बधुओं को भी सबको संतोष लग रहा है <clears throat> तो वो सब उसका बता दिया मैंने कोई कार्य इस प्रकार के समय हो रहा है घर में जहाँ संकोच की बात है जिनको तो सबको संतोष लग रहा है और मोद विनोद विनोद के बड़े अब उस समय समय मोद विनोद शब्द से बोल दिया विनोद के मैंने वहाँ कुछ क्रीड़ा जैसा ऐसा हो रहा है जिसमें की सब विरोध की बातें हो रही हैं लेकिन वहाँ पर तो जनक में जो स्त्रियाँ करा रही थी वो सब इसी प्रकार के विरोध की लीला वहाँ होती थी लेकिन वहाँ सत्या सब हस्ती थी जब विरोध की बात होती यहाँ जो माताएं ये सब प्रकार के कार्य करा रही हैं और सत्या यही सब कार्य करा रही हैं तो वो लोग रीत पूरी करा रही हैं लेकिन ये सब हस्ती है चुप रहती है और सबको कार्य को पूरा होने देती है लेकिन ये जो संकोच इनको सबको होता है माताओं के सामने ये सब इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं तो बर को संकोच लगता है लेकिन मोद विनोद विलो के बल ये सब इनका मोद विनोद हो रहा ये सब देख रहे हैं भगवान राम देख रहे हैं तो भगवान राम क्या करते हैं कहते हैं राम जो है राम मन ही मुस्कान भगवान राम अपने मन में मुस्कान मैंने ऊपर से वो प्रकट नहीं करते अब मुस्काने का क्या हो सकता है अब ये तो तुलसीदास जी ने बोल तो दिया तुलसीदास जी को दिखाई दिया अपने हृदय में कि भगवान राम जी वहाँ बैठे हुए हैं सब भाई लोग उस प्रकार से वहाँ लोकप्रिय प्रकार कार्य हो रहे हैं और भगवान को दिखाई दिए और भगवान का मन भी तुलसीदास को दिखाई दिया और ये दिखाई दिया भगवान राम अपने मन में मुस्करा रहे हैं वहाँ तक तुलसीदास जी पहुँच गए लेकिन बाकी बात छोड़ दी कि जो लोग भी अपने हृदय में इसको सब देखें भगवान राम को देखें और उनके मन में पहुँचे तो फिर ये समझने के लिए अपने आप प्रयास कर लेंगे कि वो भगवान राम क्यों मुस्करा रहे उनके मन में मन्ने को आ रहा मुस्कराने की बात वहाँ क्या है कब्र संत लोग बहुत से हैं जिन लोगों ने सब रात की कथा सुनी तो उन्होंने भी अपने हृदय में देखा भगवान राम के हृदय में भी पहुंचे और खोजने की कोशिश की भगवान राम क्यों मुस्करा रहे तो <clears throat> मुस्करा रहे हैं कई कारण लोगों को दिखाई दिए किसी को कुछ दिखाई दिया किसी को कुछ दिखाई दिया किसी को दिखाई दिया फिर ये माताएं सब जो है ये है <clears throat> किस प्रकार के समझते कि साधारण लौकिक कार्य हो रहे हैं और लौकिक कार्यों को लोक नीतियाँ पूरी कर रहे हैं इस प्रकार से उनको आनंद उसमें करना आ रहा है इन बातों में सब क्या रखता है और हम्म? वो भगवान मुस्करा रहे हैं जिनको सबको ये किसी में आनंद लग रहा है इस लोक रीत पूरी करने में सुख लग रहा है उनको तो उसमें कोई कहता है भगवान मुस्करा एक बात एक व्यक्ति ने कही कहा कि असल में भगवान राम ने देखा कि ये सब लोग इस समय पुत्र बधु भी आ गए चार पुत्र भी हैं और इनको सुख की का जो है ऊंचाई पढ़ते पढ़ते बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया सर्वानंद को प्राप्त है लेकिन उसके आगे आकर के ये ग्राफ नीचे भी जाने वाला है इनको अभी दिखाई नहीं देता भगवान को तो त्रिकाल करती है आगे दिखाई देंगे कुछ काल के बाद जब सीता जी को लेकर के लक्ष्मण जी को लेकर के हम चल देंगे वन की तरफ तो यही जितना आनंद इनको इस समय ऊपर तक कर गया है वही सब नीचे उतर आएगा और रोटी रोटी जीतेगा इनको सब दुखी होंगे तो संसार में लोगों को जैसे समय सुख होता है तो सुख ही सुख दिखाई देता है आगे आने वाला दुख नहीं दिखाई देता है लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसको की जीवन की दोनों स्थितियाँ दिखाई देती है कि कहीं अर्थ की बातें भी आती है कहीं विषाद की बातें भी आती है ये तो संसार क्या है तरंग की तरह संसार में सागर सागर है सागर में तरंगे कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है इसी प्रकार से संसार में भी कभी हर्ष की तरंग ऊपर उठती है और कभी नीचे जाती है तो दुख का होता है तो हर संसार के जीवन का अनुभव एक साधारण सामान्य अनुभव ये सभी के जीवन में आता है और अगर कोई प्रसन्नता के समय में भूल जाए कि दुख भी पहले आए थे या आगे भी और आने वाले हैं आ भी सकते हैं तो कहते हैं उसको कुछ दिखाई नहीं देता मैंने उसकी दृष्टि संकुचित इसलिए व्यक्ति को व्यापक बुद्धि होनी चाहिए आगे पीछे तो उसे सब स्मरण रहे ध्यान दे यानी जीवन को एक व्यापक दृष्टि देखना चाहिए समग्र दृष्टि से जीवन को देखना चाहिए और फिर जीवन डालता है अगर जीवन बुद्धि संकुचित होकर रह गई शरीर तक तो संतुचित रह गई परिवार तक तो संतुचित रह गई भौतिकता संतुचित रह गई तो फिर फिर आगे चल करके कहीं हर्ष कहीं विकास नहीं सब हो गए <clears throat>